करने करने जतन जगा सब लोग एक दूसरे के कान में कहते थे राम राम राम ये राम किसी के तो अवतार पहले भी किसी ने कहा कि वैकुंठनाथ के विष्णु के नारायण के अवतार है किसी ने कहा कि मोह रूप रावण का नाश करने के लिए जो अपने हृदय में ज्ञान का अवतार होता है वही राम किसी ने कहा कि राम पूरी तत्व है अध्यात्म के रूप में है भगवान हृदय में राम के रूप में स्थित है ज्ञान के रूप में स्थित है और वो मोह रूपी रावण को मानते हैं और और वैकुंठनाथ भगवान विष्णु बड़े प्रसादु हैं और जब मनुष्यों का देवताओं का संकट देखते हैं तो कृपा करके अवतार धारण करते हैं महात्माओं की दृष्टि में जो कुछ है दिव्य तत्व ये संसार सब ब्रह्म स्वरूप राम ही राम है परंतु वाल्मीकि रामायण में जिन बात का वर्णन है यदि अथा वस्तु से ही उसका विचार किया जाए तो मनुष्य के रूप में ही वाल्मीकि रामायण में वर्णित हुए ये मानवता न ये मोहनाशक ज्ञान के रूप में वर्णित है न तो अवतारी नारायण के रूप में वर्णित है न तो सूर्य तत्व के रूप में बने हैं ये तो लक्षणा है प्रतीकात्मक अर्थ करके ये सब भाषण कर दिया प्रतीकात गौण होता है ये शास्त्र के काम से व्यक्ति से इस अर्थ का बोध होता है वही मुख्य के होता सीधी बात है ये योजना नगरी है उसमें संपत्ति है कौशल्या और सतर्क उनके पुत्र है राम और मनुष्य के रूप में राम उतरे सदगुण संपन्न है कि वे भूत में वर्तमान में भविष्य में सर्वदे ही मानव के आदर्श के रूप में बने रहेंगे एक सत्य मनुष्य में कितने गुण चाहिए कैसे कैसे गुण चाहिए उसका व्यवहार कैसा चाहिए हम सब लोगों के जीवन में धारण करने योग्य अपना हृदय ही राम रूप मानव बनाने के योग्य अपने जीवन में राम का चरित्र आदर चंगी बात आप लिए सुनाते हैं कि वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया है नारद जी से उसने तो पूर्ण वर्षीन साम्प्रतम लोके गुणवान सत्य के जवाब ये प्रश्न है साम्प्रतम माने इस समय और अपने लोके माने किसी समय है किसी समय और किसी धरती पर वो कौन नर है वो कौन सा मनुष्य है वो श्रेष्ठ गुणों का आदर है श्रेष्ठ गुणों का आधार है जी राम को हमें वैकुंठ में ले जाकर कहीं मिलाना चाहते हैं और अज्ञा की निवृत्ति होने पर उपलक्ष्या निवृत्ति के उपलक्ष्य आत्मा और ब्रह्म की सिर्फ एकता के रूप में नहीं मिलाना चाहते वाल्मीकि जी राम को हमें किसी धरती पर मिलाना चाहते हैं और यही उनका मुख्य प्रश्न है यदि रामचंद्र भगवान हमको धरती पर नहीं मिलेंगे तो वैकुंठ जाना तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ और आत्मा के रूप में अनुभव करना तो साधन सदस्य संपन्न भागीदारी के लिए इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि रावण को न ज्ञान रूप राम मान सकते हैं और न तो देवता रूप राम मान सकते हैं रावण को कोई मार सकता है तो मनुष्य राम ना करता है इसलिए रामचंद्र भगवान को हम अपने से दूर न फेंकें कि वे कहीं बहुत दूर ऊपर वैकुंठ में रहते हैं और उनको कहीं बहुत निवृत्त हाँ, गुहा में ले जाकर के न बैठा दें कि वे किसी गुफा में रहते हैं राम भगवान हमारे पूरन में है हमारी आंखों के सामने हैं सदगुण से संपन्न होकर हमें मार्ग दिखा रहे हैं अब वाल्मीकि रामायण के आपको एक व्यक्ति वाल्मीकि जी हैं पृथ्वी माता माता के एक पुत्र माने होता है वाल्मीकि तपस्या करते करते उनके शरीर में लग गई दीमक और दीमक की माटी से उनका शरीर हट गया ये अच्छी बात से तो उनकी शाम को उनके रक्त को उनके चीज को दीमक चार गया तो वही धरती में जो कीमतों की खोली हुई बाबी से बनाई हुई जो बाबी थी उस बाबी के प्रकट होने के कारण वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि है माने वो धरती पुत्र है पृथ्वी के पुत्र है वाल्मीकि अब दूसरी ओर आप ध्यान दें तो सीता जी का जब यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय जनक जी का सोने का हाल चल रहा था उस समय धरती में हराई में जो अल्प धरती दुखी है उस धरती में जानकी जी बने वो भी धरती माता की भूमि की पुत्री है भूमि से ही संबंध है ऐसा अच्छा, राम क्या है उनका भी धरती के साथ संबंध देखो नारायण रामचंद्र भगवान जो है वो आराम है संस्कृत भाषा में राम शब्द को करता अर्थ में बनाना बहुत मुश्किल है राम शब्द का अर्थ होता है रमन से अश्विन जैसे आराम है सामने बगीचा है इसमें आकर के बालक खेलते हैं तो ये आराम जो है रमन का स्थान है बिहार का क्रीडा का स्थान है जैसा ये आराम शब्द है संस्कृत भाषा में राम शब्द भी ये प्राणी मात्र भगवान राम में रमन करते हैं उनका चरित्र देवलोक के लिए नहीं वैकुंठ लोक के लिए नहीं किसी प्रति के लिए वो आराम स्वरूप है रमन से अपने लेते हमारे वैयाकरणों में राम शब्द का अर्थ दशरथ नंदन और कल्याणकर अद्भुत खंड पक्ष में माना गया अद्भुत खंड पक्ष में माने इसको धातु और सोचे लगाकर मत बनाओ ऐसे मानो कि एक राजा थे एक रानी थी उनके राजकुमार के रूप में रामचंद्र प्रकट हुए उस राजकुमार का नाम राम रखा गया हाँ। वो व्याकरण से उत्पन्न नहीं है बल्कि लोगों के द्वारा रखा हुआ भगवान का नाम है दशरथ नंदन का एक नाम है राम तो ये तो हुआ भगवान का नाम राम और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भविष्यों ने इसकी उत्पत्ति की है रामो रमयताम इसलिए ये सबको आनंद देने वाले मनुष्य मात्र को नहीं प्राणी मात्र को आनंद देने वाले भगवान रामचंद्र है इसी से हम देखते हैं लक्ष्मी लक्ष्मण जी भी उन साई है ठीक है तो हमेशा तो वो धारण करते हैं पृथ्वी को अपने सिर पर और जब अवतार लेते हैं आते हैं तो वो पृथ्वी पर ही रहते हैं रामचंद्र भले सज्जा पर शयन करें लेकिन लक्ष्मण जी सज्जा पर चयन नहीं करते हैं भरत जी को हम देखते हैं तो भरत जी को धरती में गुफा खोल के रामचंद्र जी धरती पर चलते हैं अपना चरण रखते हैं इस धरती पर मैं बराबर कैसे बैठूं, बराबर कैसे सोऊं, तो वो तो धरती में गड्ढा खोद करके रहते हैं तो ये जो राम कथा है उसका संबंध सीधे इस लोक में है इस समय इस लोक में सबसे श्रेष्ठ मानव कौन है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कौन है ये वाल्मीकि रामायण का मूल प्रश्न है और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री राम का नाम उन्होंने लिया है राम नाम लेने का एक अभिप्राय है वो ये है के पुत्र हैं सूर्य दुर्वतवान और दुर्वतवान है सूर्य और उनके पुत्र हैं दैवत मनुष्य और वैवस्वत मनु के पुत्र हैं इस इष्टपाते ये राजर्षियों में जो कर्मयोग की परंपरा चली है ये निंदता आप लोकमान से लोकमान को भगवान ने मान को भगवान ने बताया था तो इनम इमम दिवत्वे योगम को तो सवान अनुप्रया दिवस्वान मनोग्राह मनोरिश्वास प्रभेद भगवान के द्वारा ये जो कर्म योग है पहले सूर्य में आया और सूर्य से मनु में आया और मनु से इक्ष्वाकु में आया और यही उत्तर दिया गया वाल्मीकि रामायण में विश्वास वंश प्रभव रामो नाम जनई श्रोता ये योग की परंपरा के एक आचार्य है भगवान श्री रामचंद्र तो भगवान की जब सूर्य की चर्चा की गई और देश में ये प्रसंग आया कि स्वच्छ पंथा मन करेगा पूजा चंद्र बता हुआ जैसे सूर्य दिन रात कल्याणकारी मार्ग से चलते रहते हैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं देते जैसे चंद्रमा दिन रात चलते रहते हैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं देते नारायण और वो प्रकाश देते रहते हैं और वो आह्लाद देते रहते हैं चावल की वर्षा करते हैं चंद्रमा और प्रकाश की वर्षा करते हैं सूर्य भगवान सूर्य भगवान के आजाद देवता के रूप में अवतार ही है सूर्य भी नारायण और चंद्रमा भी अब उसी सूर्य वंश में जो जीवन के प्रकाश दाता है कर्म के प्रकाश दाता है स्वयं कर्म में अविश्रांत संलग्न हुए हैं जैसे वायु चलती रहती है जैसे जल रहता रहता है जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है ऐसे ये सूर्य भगवान सबको धारण करने वाले हैं प्रकाश देने वाले हैं और आह्लाद देने वाले हैं तो भगवान श्री रामचंद्र का स्वाति वंश में जन्म देने का अर्थ ये है कि वे मनुष्य के रूप में कर्म निरत है उनके जीवन में कभी विश्राम कभी विश्राम नहीं है तो ये कर्म के एक आदर्श के रूप में कर्म लोग के भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन हुआ अब रही बात उनके गुणों की उनके गुणों का ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है उसमें पद पद पर उनको भगवान नहीं कहा गया है कुछ थोड़े से स्थान ऐसे अवश्य हैं जिसमें उन्हें भगवान कहा गया है लेकिन वो तो भगवान है ही परंतु पद पद पर उनको भगवान न कह करके मनुष्य कहा गया है और ये मनुष्य जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी बात है कि हम जब भगवान के गुणों की बात सुनते हैं तो झट कह देते हैं कि वे तो भगवान है भगवान में ऐसे गुण हो तो आश्चर्य की क्या बात है हाँ, भगवान में तो ऐसे बड़े बड़े गुण होने चाहिए हम मनुष्यों के लिए ये थोड़ी है परंतु जब भगवान राम का वर्णन हम मनुष्य के रूप में सुनते हैं तो ये संभावना बन जाती है कि जैसे भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र सबके साथ सदस्य थे वो बर्ताव हमारे जीवन में आ सकता है देखो राम के जीवन में दशरथ कृपा दशरथ का सीधा संस्कृत भाषा में ये है कि जिसका रथ दसों दिशाओं में चल सकता हो जिसके रथ की गति को कोई रोके नहीं रथ रथो दसों दिशाओं में जिसका रथ चलता है उसका नाम दशरथ हुआ उनका नाम वो भी धरती के साथ संबंध है धरती पर ही उनका रथ चलता था नारायण कभी कभी देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में हो आते हो वो बात दूसरी है लेकिन देवताओं की सहायता भी मनुष्य ही करता है न मानुषा श्रेष्ठ कर्म के मनुष्य से बढ़ करके इस विश्व सृष्टि में कोई दूसरी बात दूसरी बात नहीं है एक ये भी बात ध्यान में रखने की है कि हिंदी में तो भगवान शब्द ईश्वर के लिए कर गया वैष्णव लोग ज्यादातर भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं और कई लोग ज्यादातर ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं अधिकांश में कई ईश्वर बोलते हैं और वैष्णव लोग भगवान बोलते हैं पर ये भगवान संस्कृत में संज्ञा शब्द नहीं है विशेषण शब्द है इसलिए भगवान प्रतिष्ठा भगवान नारदा ऐसे ऐसे बोलते भगवान सुखा भगवान व्यासा ये भगवान विशेषण शब्द है इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग होने पर भी ये वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द का प्रयोग भी बहुत ही कम नाम मात्र का प्राप्त होता है तो ये जो भगवान का राम रूप है ऐसे हम बोलेंगे ये जो भगवान का सर्वेश्वर का ये जो वैकुंठनाथ विष्णु का अथवा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का जो राम रूप है ये मानव रूप है और हम सब लोगों के जीवन के साथ सीधा संबंध रखता है और मेहमानों की महाराज उपासना करनी पड़े ध्यान करना पड़े प्रार्थना करनी पड़े उनका ज्ञान प्राप्त करना पड़े और तो राम के जीवन को तो हम साक्षात अपने ही भौतिक जीवन में उतार सकते हैं इसलिए राम को अपने से दूर न ले जाकर अपने जीवन के बिल्कुल निकट राम को रखें और तो पिता की आज्ञा का पालन या आप नहीं कर सकते राम नहीं कर सकते आप कर सकते हैं पिता की आज्ञा का पालन आप कर सकते हैं माता की आज्ञा का पालन कि आप नहीं कर सकते चर्चा करते हैं परंतु राम की विशेषता ये है सौदेवी माँ कह गई ठीक है देखी पुत्री कह गई वो भी देश से संबद्ध है और सुमित्रा और कौशल्या तो दोनों कुशल देव की ही पुत्री थी कौशल्या बड़ी बहन थी और सुमित्रा छोटी बहन थी दोनों कुशल देव की शांति हाँ किसी धरती की बेटी थी हो तो संध्या भी इसी धरती की बेटी और सुमित्रा भी इसी धरती की बेटी यदि उनके पुत्र राम हो सकते हैं तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि आपका पुत्र भी राम जैसे पूरे गुणों को न सही उनको आदर्श मान करके पूरे गुणों को तो सहारण कर ही सकता है एक लोक कथा तो ऐसी है पहले दशरथ जी का विवाह कौशल्या तो जी से तय हो गया था कौशल्या तो वो संदेशी पुत्र तो कोई कहते हैं कि अयोध्या के पास ही भूसलमान का एक छोटा सा विभाग था वहाँ के पुत्र थे और कोई कहते हैं ये तो उत्तर कोसल है दक्षिण कोसल मध्य प्रदेश में है वहाँ की पुत्र थे विवाह कौशल्या जी से तय हो गया था परंतु रावण को ये मालूम पड़ गया कि इस कौशल्या के जो पुत्र होगा वो हमको मारेगा तो उसने कुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके एक और जंगल में ले जाकर मंदिर में बंद कर दिया कि पता न चले किसी को भी कहा है सारा बाहर से बंद इतने में उदाह का दिन आ गया और दशरथ जी की गणा कर गई देश में अब वहाँ जो उनके घर वाले थे उसे बहुत दुखी हुए कि हमारी लड़की घर में नहीं है अपहरण हो गया तो विवाह से भी करें तब उन्होंने कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा का विवाह दशरथ जी से कर दिया और दशरथ जी से कर दिया और बताया नहीं कि ये हमारी छोटी लड़की है दोनों एक खरीदी थी अब जब प्रहलाद नवनी विवाह करते तो ऐसा भाग्य का कत्र कहो ऐसी ईश्वर की लीला कहो तो वही मंदिर जंगल में जहाँ कौशल्य बंद थी वहीं आगे बड़ा विश्राम करने लगी जलपान करने लगी भोजन करने लगी दशरथ जी के कानों में आवाज आई कि कोई दुखी प्राणी इस मंदिर के भीतर भटक रहा है और उन्होंने काला तोड़वा दिया और काला तोड़वा दिया तो भीतर से निकली कौशल्या तो अब वो कौशल्या निकले तो, तो दशरथ जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन पहचान के तो थे लेकिन जो सुमित्रा ब्याह के लाई जा रही थी उन्होंने जो देखा उसको वो बोले कि ये तो मेरी बहन है हाँ, ये तो मेरी बहन है हम दोनों बड़ी छोटी बहन है और इन्हीं का विवाह आपके साथ पहले तय हुआ था आ, तो उसको पूजा अपहरण करके दे गया इसलिए मेरा विवाह हुआ अब आप उनको स्वीकार कर लीजिए तो ने कहा कि मैं इनसे विवाह करूंगा और हमारी बड़ी पत्नी के रूप में यही रहेगी क्योंकि इनसे हमारा विवाह पहले तय हो गया है ये लोक कथाओं में लोक कथाओं में ये बात आती हो तो ये दोनों कौशल्या और सुमित्रा और केकई तीनों का नाम जो है देश देश के संबंध से है माने ये तीनों भी धरती की उत्तरी ही है ये कोई आसमान से उतरी हुई उतरी हुई नहीं है तो कौशल्या असमिता और कोई ही बोलते हैं संस्कृत में और कोई कहकर ही बोलते हैं दोनों शब्द संस्कृत में कहके भी और भी तो वो एक ही एक देश के साथ संबंध रखती है वो भी धरती की ही पुत्री है अब तो माता पिता की आज्ञा रामचंद्र कैसे मानते हैं यदि ये बात कष्ट में न आवे इस पर आप ध्यान दें कि यदि आज्ञा पालन आराम से हो गए सुख से हो गए अपने लाभ के लिए हो गए तो बहुत लोग माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं वो आज्ञा पालन धर्म तो है परंतु इस धर्म की निष्ठा इस धर्म की परिपुष्टि इस बात में होती है कि जब उस धर्म का पालन करने में हमें कष्ट हो और उस कष्ट को सह के भी आज्ञा का पालन करें धर्म का पालन करें तब धर्मात्मा हो जाते हैं इसीलिए माता पिता की आज्ञा मानने वाले को बहुत हो लेकिन राज्य का परित्याग करके और चौदह वर्ष तक पर में वन्य जीवन व्यतीत करना सब ये पता चलता है हाँ माता पिता की आज्ञा का इन्होंने पालन किया इतना कष्ट सहन के इतना कष्ट सहन करके जो धर्म पालन में कष्ट उठाने से हिचकता है और वो धर्मनिष्ठ नहीं है धर्म सब होता है जब हम अपने हाथ को वासना के अनुसार काम करने से रोकते हैं आज्ञा के अनुसार काम करते हैं अनुशासन सबसे बड़ी चीज है हम हमारे काम आज्ञा के अनुसार चलते हैं प्रार्थना के अनुसार नहीं जो अनुसारी होता है वो धर्म होता है और जो अनुसारी होता है वो एक श्रृंखलता का रूप होता है अब देखना हमारे जीवन में हम अपने मनोराज्य मनोरथ वासना के अनुसार चलते हैं कि वेद की शास्त्र की पर्व की आचार्य भी आज्ञा के अनुसार चलते हैं अब उस धर्म को पालन करने में धर्म का पालन करने में यदि कष्ट होता हो तो आप उसको करने के लिए तैयार है कि नहीं है रामचंद्र रामचंद्र की यही विशेषता है कि वे अपने लिए घोर कष्ट उठा करके भी और अपने धर्म का पालन करते हैं धर्म माने धारण करना यदि धर्म जैसे तो धर्म जो हमारे भीतर रहकर हमारी रक्षा करता है जैसे पाँव को बुरी जगह जाने नहीं देता हाथ से बुरा काम करने नहीं देता मुंह से बुरी बात बोलने नहीं देता सभी अपनी इंद्रियों को पूरे मार्ग में चलने नहीं देता वो हमारे अंतर करण में विराजमान जो इंद्रियों और मन को रख पकड़ रखने की शक्ति है उसका नाम होता है धर्म रामचंद्र को कहते हैं रामो विद्रावान धर्म वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम क्या है एक मूर्तिमान धर्म है राम के रूप में मानव धर्म ही मूर्तिमान है वे अपनी इंद्रियों को संयम रखते हैं अपने हाथ को बुरे काम में नहीं जाने देते अपने पाँव को बुरी जगह नहीं जाने देते अपनी अपने आँखों से जो वस्तु नहीं देखनी चाहिए उसको नहीं देखते जो नहीं सोचना चाहिए उसको नहीं सोचते तो राम वो है जिनका अपने इंद्रियों पर काबू है जिनका अपने मन पर काबू है जो जिनका जीवन संयम में व्यतीत हो रहा है ये राम की ये राम की विशेषता है और माता का देखो तो मात्र देवो भव मित्र देवो भव आचार्य देवो भव ये वेद की आज्ञा है कई कई आचार्यों का तो ऐसा मत है आजकल वाल्मीकि रामायण पर जो पूरी पंद्रह बीस गीताए हम क्षेत्र में पुरानी चलती हैं पूजा है तिलक है शिरोमणि है तिलक है शिरोमणि है कटक है तीर्थ है नारायण एक धर्मातीतम नाम की व्याख्या है संस्कृत में बहुत सारी व्याख्याएं वाल्मीकि रामायण सभी श्लोकी है एक गीता का नाम तमिल भाषा में पहले लिखी गई थी फिर उसका संस्कृत हुआ उसका नाम तमिल श्लोकी है कोई कहते हैं कि पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी पीछे तमिल में उसका अनुवाद हुआ केवल आज्ञा देने मात्र से ये लोगों के जीवन में धर्म नहीं आता इसलिए धर्म को ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत करें कि उस चरित्र को लोग सुन करके और देख करके और उसका भाव करके स्वयं ही चरित्रवान हो जाए उनको धर्मशास्त्र पढ़ने की या किसी धर्मशास्त्री पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े इसलिए उन्होंने धर्म की व्याख्या ये चरित्र के रूप में चरित्र के रूप में की ऐसे धर्मात्म व्याख्याकार का अवगत है अब रामचंद्र के जीवन में हम देखते हैं भाई के कितना प्रेम तो भाई के इतना प्रेम की जब बच्चे थे और कौशल्या माता रामचंद्र को बुला दी थी अब बुला दी थी तो सोए में नींद नहीं आवे घटो में नींद आती है तो बोले कि अभी लक्ष्मण जी नहीं आए हैं अब लक्ष्मण जी जब आ जाए दोनों को एक साथ सुला दे तो नजते बिना निद्रा लगते गुरु को अपने छोटे भाई के बिना लक्ष्मण रामचंद्र को जाती है हाँ, ये भाई भाई का प्रेम ये भाई भाई का प्रेम है आपने देखा कई कहीं ने आग्रह किया युद्ध की तो अपने पुराने वरदान मांगे कि राजा हो जाए भरत और रामचंद्र जो है वो वन में चले जाए ये युद्ध तो की लेकिन भरत ने रामचंद्र को बड़ी प्रसन्नता से उसके इस युद्ध को दुराग्रह को इस दुर्भाव को स्वीकार किया तब ठीक हमारी माता की आज्ञा है हम बाद में जाएंगे परंतु कई कई के पुत्र जो ने उन्होंने राम के बिना राज्य को स्वीकार नहीं किया राजा होंगे तो हमारे बड़े भाई राजा होंगे हम छोटे हैं हम राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकते ये बात धर्म शास्त्रों में लिखी है कि पिता की आज्ञा कैसे मानना माता की आज्ञा कैसे मानना भाई के साथ कैसे प्रेम करना जब ये बात रामचरित्र में लिखी हुई है जब भोजन करता जाता तो नारायण निष्ठबंध मुबानिकम अपनाति महितम देना रामचंद्र के सामने जब आपके भोजन की थाली रख ली जाती बढ़िया बढ़िया में उनके सामने रखा जाता तब मुझे तो थाली के बिना भोजन करना पसंद नहीं करते थे जब हमारा भाई आ जाएगा तब भोजन करेंगे ये हमारे घर का जो धर्म शास्त्र है वो श्रवण सूत्रों में है कि कर्म सूत्रों में है कि धर्म सूत्रों में है कि ब्रज सूत्रों में है कि मनुवादी स्मृतियों में है तो वो बात छोड़ो हमारे घर का जो घरेलू धर्म है यज्ञशाला का धर्म यज्ञशाला का धर्म भले कर्म सूत्रों में हो उसके लिए वेद उन मंत्रों से भरे हुए हो परंतु हमारे घर में पालन करने योग्य जो धर्म है वो तो रामायण है वो तो रामायण में है जब वनगमन का प्रसंग आया है और रामचंद्र ने आग्रह किया कि लक्ष्मण तुम घर में रहो पिताजी की माता जी की बाहर संभाल करो और पिता जी से कहा कि समय धन का कष्ट जो है वो सहन करना पड़ेगा तो रोज तुम घर में ही रहो घर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं न सीता स्वया स्वया बिना नचा हम अभिराज हो तुम्हारे बिना सीता और मैं दोनों न सीता स्वया न नचा हम अभिराज हो क्षणार्थम अभी जीवा रहा तुम्हारे तो बिना सीता जी भी एक क्षण जिंदा नहीं रह सकती और मैं भी एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता ये सीता का लक्ष्मण का नारायण प्रेम है नारायण ये प्रेम जो अपने पति के प्रति सीता का है और अपने बड़े भाई के प्रति राम का है आप किसी पुस्तक में पढ़ भाई भाई के प्रेम कर रहे थे असल प्रेम नहीं मंत्र न भ्राता भ्रातरम दृष्टिया न प्रसारम होता स्पर्शा भाई से भाई द्वेष न करे प्रेम करे बहन से बहन प्रेम करे द्वेष न करे अन्यो अन्यम अविभाज्य जातम वस्त्र विवाह दुनिया जैसे गाय अपने तत्काल पैदा हुए बचने के प्रति प्रयत्न करती है वैसे आप लोग एक दूसरे से प्रयत्न करें अब वेद को आज्ञा दे करके रह गया और मनुस्मृति में आज्ञा रह गई कहीं इस आज्ञा का कोई पालन करने वाला है कहाँ है कहाँ है कैसी वाल्मीकि रामायण में नारायण उसका वर्णन है और वो आपके घर में वही लक्ष्मण आ सकता है आपके घर में वही सीता आ सकते हैं आपके घर में वही राम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो राम है ये मानव मानव के रूप में राम है यदि किसी को मालूम पड़ जाए अरे ये राम नहीं नारायण है रावण का खबर पहुंच जाएगी और वो ब्रह्मा जी से डरेगा कहेगा कि तुमने तो हमें वरदान दिया था कि मनुष्य के हाथों में मरो ये तुमने नारायण को कहा से भेज दिया हमको मारने के लिए तो तुम्हारा वरदान तो झूठा हो गया अगर ये हमको मारेंगे तुमने हमें वरदान दिया है कि मनुष्य और बानर को छोड़ करके दूसरे से तुम्हें कोई भय नहीं है तो राम यदि मनुष्य के रूप में हो न हो मनुष्य के रूप में प्रख्यात न हो कहो नारायण विष्णु देवता के रूप में प्रख्यात हो जाए तो रावण को दिया हुआ जो वरदान है वो झूठा हो जाएगा इसलिए हमारे जीवन में हमारे जीवन की वस्तु है नारायण माता पिता के आदेश पर कितना त्याग मनुष्य को करना चाहिए भाई से कितना प्रेम करना चाहिए पति पत्नी का कैसा प्रेम होना चाहिए और पत्नी कैसी होनी चाहिए ऐसा अद्भुत श्री रामचरित्र का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि आप देख करके दंग रह जाएंगे आश्चर्य चकित हो जाएंगे वहाँ का एक एक एक एक चरित्र जो रामचंद्र ने सीता जी के कहा कि तुम घर में रहो हम घर में जाते हैं गुरुस्वामी तुलसीदास जी वो बात नहीं लिखी रहो पिताजी ने कहा कि यदि हमारे पिता समझते तो तुम इतने नपुंसक हो ऐसे ही बिल्कुल तुम इतने नपुंसक हो कि हमको अपने साथ ले जाने में तुम्हें डर सकता है तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हम तोड़ देने पर भी तुम्हारे साथ मेरा जा नहीं कर सकते क्या क्या पति अपनी पत्नी की रक्षा में समर्थ नहीं है और पत्नी अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र रहे ऐसी बात इतनी कड़ी बात गीता जी ने और इतनी विनम्र होने पर भी आज्ञाकारिणी होने पर भी नारायण जब वो छोड़कर जाने लगे तो इतनी कड़ी बात रामचंद्र से कह दी देखो इतनी नपुंसकता धारण मत करो मैं तुम्हारे आगे आगे आगे आगे करूंगी तुम्हारे संत जी से तुमसे पीछे नहीं तुम्हारे आगे आगे चलोगे सीता जी का ऐसा बढ़िया चरित्र बल्कि वाल्मीकि से बढ़ करके सीता जी का चरित्र अभी तक लोगों ने बहुत देखा है राम के बारे में लिखा सीता के बारे में लिखा लेकिन ऐसा उत्कर्ष चरित्र का जितना उत्कर्ष सीता चरित्र का वाल्मीकि रामायण हुआ है उतना अन्यत्र कहीं देखने में एक जगह भगवान राम को उपदेश करते हैं विशेषता तो राम की है परंतु उपदेश करते हैं देखो हम लोग वन में आए हैं मुनि का वेश धारण करते हैं जथा रूप रखते हैं बलतन रखते हैं अब यहाँ धनुष पार की क्या आवश्यकता है जब हमारे शत्रु देखेंगे कि रामचंद्र भगवान लेकर के चलते हैं तो ये जंगल में जो राक्षस रहते हैं दैत्य रहते हैं पूरे लोग रहते हैं घूमने रहते हैं वो लोग हम लोगों को धनुष के सहित देख करके हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे इसके करना चाहेंगे इसलिए ये धनुष बाढ़ कहीं रख किसी व्यक्ति से आक्रमण और हम लोग फल ऐसे वितरण करें जब लौटना होगा तब मान दे करके करेंगे वहाँ बिल्कुल फ्री सुलभ कोमल हरियाणा कांड में ये प्रसंग है रामचंद्र बोले सीता मुक्ता बोलते देखो जैसे सीता ने संग चलते समय और रामचंद्र को है दादा साहब को नपुंसक हो गए वो ऐसे महाराज रामचंद्र ने भी सीता जी को डाक दिया ये परस्पर तो, पति पत्नी है कोई भी है गए तो है नहीं रामचंद्र ने कहा देखो सीता मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं जो दुष्ट है धरती पर उनका विनाश करूंगा ये मेरी प्रतिज्ञा है तो नारायण उन्होंने कहा रामचंद्र ने कि आप यहाँ जीवितम जयम स्वाम बासी कलक नाम न तो प्रतिज्ञा संकृत्य ब्राह्मणे जो विशेषता मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूँ मैं मर सकता हूँ और गीता को तो भी छोड़ सकता हूँ और लक्ष्मण जी बता क्या लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं दुष्टों का दलन करूंगा और सज्जनों की रक्षा करूंगा वो जो सज्जनों की रक्षा की प्रतिज्ञा है वो मैं कभी तोड़ने वाला नहीं हूँ ये रामचंद्र के चरित्र की विशेषता है इसी से इसी श्लोक का भाव उत्तर रामचरित में भवभूति ने दिया है अब ये हम दयांश मैत्री अथवा जानकी मसी आराधनाय लोकस्य मुख्य को नाश की मैं दिया था रामचंद्र ने कहा मैं स्नेह हो सकता हूँ दया हो सकता हूँ मित्रता हो सकता हूँ और जानकी को भी खो सकता हूँ परंतु प्रतिज्ञा करके नारायण अब स्नेह दया च मैत्री च अथवा जानकी नती आराधनाय लोकस्य मुख को नाश की मैं दिया था लोक कल्याण के लिए प्रजा के कल्याण के लिए यदि जीवन और जानकी को भी छोड़ना पड़े तो उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं तो लोगों को आनंद पहुँचाने के लिए आया हूँ ये देखो जनता के प्रति जो धर्म होना चाहिए एक प्रजा पालक का एक राजा का एक ये लोक कल्याणी लोक कल्याणकारी मनुष्य का प्रजा के प्रति जो धर्म होना चाहिए वो हम श्री रामचंद्र के जीवन में देखते हैं कितना कितना परस्पर कितना परस्पर प्रेम है और नारायण उसके साथ कितनी उसके बोटी की त्याग की भावना है नारायण आपके राम जनप्रिय प्रिय तत्व के रूप में रहें तो वो जो वेदांति लोग हैं उनकी आत्मा होकर रहे और ठीक है यदि भगवान आप राम आपके वैकुंठ नाथ हैं तो आपको खास जोड़ करके यहीं से उनको प्रार्थना कर लीजिए लेकिन आपको एक ऐसे राम की भी आवश्यकता है जो आज आज आपके जीवन में उतरे और आप उनके समान रामो जो नाम आप जो कर्म नाम संभव नारायण वो दो बार किसी का स्थापना नहीं करते एक बार जिसको जहाँ बताना है बता दिया इतना दे दिया इतना दे दिया कि उसको दूसरी बार किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़े वे सदा के नकार दिया रामो जब नाभिभाषते दो बार किसी मांगने वाले को नहीं देते माने एक बार इतना दे देते हैं कि दोबारा उसको मांगना ही ना पड़े और एक बात को मुंह से बोलती बोलती दोबारा उस बात को बोलने का कोई प्रसंग ही नहीं आने देते रामो जो ना विभाग है तो ये जो रामचंद्र के जीवन की विविधता है नारायण ये हमारे जीवन में आने योग्य है धारण करने योग्य है ये राम की ये राम की विशेषता है कल देखते हैं हम वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र का उज्जवल चरित्र रामचंद्र का पवित्र श्री सीता जी का पवित्र चरित्र तो नारायण देखते हैं हम रावण के घर में रावण के घर में सीता जी की पवित्रता ऐसा बढ़िया वर्णन है महाराज आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते होंगे ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ परंतु वाल्मीकि रामायण सब लोग पढ़ते होंगे ये बात ऐसे क्योंकि नारायण जो राजनीति की जो चिंता है जैसे कष्ट सहन करके धर्म पालन करते हैं रामचंद्र उससे भी अधिक कष्ट सहन करके सीता जी अपने धर्म का पालन करते हैं और वहाँ वीरता कितनी है उदारता कितनी है सीता जी ने दो प्रसंग सुंदरकांड में ऐसे बढ़िया आते हैं एक सुंदरकांड में नारायण जी के कांड में ऐसा प्रसंग आता है बढ़िया कि जब हनुमान जी गए लंका में और देखा कि राक्षस बहुत बताते हैं जानकी जी को राक्षसियाँ बहुत प्रवोजित करती हैं और वो बड़े संकट में अन्नपान तो अन्न तो खाती नहीं है कोई भी वस्तु जनता की उन्होंने तो खाई नहीं एकदम विश्व हो गए है मरना सन्न है और उनके मुख से जैसे कैसे राम राम निकलता है लंका दान के पश्चात भगवान जी आगे जानकी जी के सामने खड़े हो गए और बोले की माता जी आप कृपा करके हमारे घर में तो बैठ जाओ धूप बैठ जाओ और मैं आपको इसी क्षण में रामचंद्र के पास पहुंचा देता हूँ समुद्र के उत्पाद और आप जिनके लिए जाते हैं जिनके पीड़ा में कभी होती है इतना का ध्यान करते हैं उनसे मैं अभी अभी आपको मिला देता हूँ और यदि कोई राक्षस हमको देख लेगा हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम उससे समझ लेंगे आप उनको बिल्कुल मत करिए मैं सब राक्षसों का दलन करके और इसी क्षण आपको रामचंद्र के पास पहुँचा देता हूँ पहुँचा देता हूँ ऐसे बोले महाराज हनुमान जी और जी ने उत्तर जो उत्तर दिया वो अद्भुत उत्तर है वो कहते हैं कि रावण मुझे उठा के ले आया कम ले आया तो जब रामचंद्र वहां नहीं थे और मैं स्त्री मैं विवश थी और उसने हमको उठा लिया सड़क पर बैठाया और यहाँ ले आया बस यही एक बार मेरे जीवन में बला पर पुरुष का स्पर्श प्राप्त हुआ है अब यदि तुम मुझे हाँ, रावण के अंजाम में उठा के यहाँ से ले जाओगे तो जैसे चोरी उसने की वैसी चोरी को भी करो चोरी के बदले चोरी भारत आप पैसों ले जाए और हमको यदि वहाँ ले चलना है तो राम स्वयं कैसे भी समुद्र पार करके हमारे पास आवे लंका पर विजय प्राप्त करें और पुष्प का समन करें और हमको यहाँ से जीत कर ले जाए सब सत्य सत्य संभव वो आपके योग्य काम होगा चोरी के बदले चोरी करना उचित नहीं है बदला लेने की वृत्ति सर्वथी अनुचित है और एक उसने चोरी की इसलिए मैंने चोरी की जिसका कोई उत्तर नहीं है तीसरी बात उन्होंने ये कही मैं जान जानबूझ कर परपुरुष का स्पर्श कर ये प्रता के पति प्रता के धर्म का वहाँ प्रता के इतने कष्ट में रहने पर इतना वियोग होने पर इतना दुख होने पर उनका राम के प्रति अमित प्रेम बना हुआ है और नारायण वो परपुरुष के स्पर्श को हनुमान जी बेटे के समान हनुमान जी माता माता कहने वाले हनुमान जी माता मानने वाले हनुमान जी और हनुमान जी को पुत्र मानने वाली जानकी जी नारायण हनुमान के कंधे पर चढ़ करके नहीं आना पसंद करती नहीं आते क्यों नहीं आते ये देखो एक पतिव्रता का ये तेज है पतिव्रता की ये निष्ठा है वो अपने धर्म के पालन में अपने धर्म के पालन में चाहे कितना भी कष्ट पड़े कितना भी संकट हो नारायण वो विचलित नहीं होती है वाल्मीकि जी महाराज ने सीता जी के चरित्र का बेटा चित्रण किया है और जितना उत्कृष्ट जितना उत्कृष्ट वर्णन किया है कहीं देखने में नहीं आता असल में अपनी धर्म निष्ठा हम कितने धार्मिक हैं उसका तो इसका पता तो तभी लगता है जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है और उस संकट के समय भी हम अपने धर्म का परित्याग नहीं करते सीता जी के एक जीवन की कथा है जब रामचंद्र जी जीत हो गई वाल्मीकि जब रामचंद्र जी की जीत हो गई हनुमान जी समाचार देने के लिए आए और आए वो कह दिया रावण मर गया लंका पर विभीषण का राज्य हो गया रामचंद्र विजयी है नारायण मैं आपको ये संदेश देने के लिए आया हूँ संदेश देने पर हनुमान जी ने एक निवेदन किया जानकी जी क्या निवेदन किया ये जो यहाँ राष्ट्रपति माता जी वो आपको बहुत कष्ट देती है वहाँ उपार्जन करो तो हम किसी को नोट लें अपने पंडे से किसी को पाँव से लौट लें और किसी को काल खींच लें किसी को मार डालें इन्होंने आपको बहुत सताया है आप हमको भी इनके साथ वैसे व्यवहार करने की आज्ञा दे दीजिए जानकी जी ने उस समय दो घटक चाहिए महाराज सारा स्वर्णाक्षरों में वाल्मीकि रामायण में ये जो अक्षर है ये स्वर्णाक्षरों में लिखने लिखने योग्य है और हनुमान तुम क्या कह रहे हो पाप आराम पाप दुभाराम पाधाराम प्लंगमाम कार्यम करुणभाग्य न नाम ही उन्होंने कहा ये आज को का काम है श्रेष्ठ पुरुष का काम हो जाए चुप रहो भगवान ऐसी बात अपने मुंह से नहीं कहना क्या इससे लोगों को भक्त के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी कि रामचंद्र का जो सेवक है भक्त है वो ऐसा होता है कि वो स्त्रियों के ऊपर सहार करे और बदला लेने की भावना उसके मन में हो क्या रामचंद्र का भक्त ऐसा होता है क्या इससे रामचंद्र का यश बढ़ेगा नहीं रामचंद्र का जल इससे नहीं बढ़ेगा और उसमें एक कलंक लग जाएगा इस क्यों कि निरपराध सृष्टि में निरपराध कोई होता ही नहीं है सबके द्वारा कोई न कोई अपराध होता है तो आज पुरुष का कर्तव्य क्या है तो चाहे कोई दुष्ट हो और चाहे दुष्ट हो चाहे पद के योग्य हो लेकिन उसके प्रति आज पुरुष के समय में करुणा होनी चाहिए कार्यम करुण मार्गे न कच्चित न करा कराकृति श्री जानकी जी ने कहा कि तो देखो हनुमान दुनिया में ऐसा कौन है जिसने कभी कोई अपराध न किया हो ये बातें दो बार तीन बार आदमी के रामायण आया है न कच्चित न करा अपराध संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई कोई अपराध न बना हो देखो अपराधिनी को तो मैं भी जानकी जी ने कहा अपराधिनी को तो मैं भी हूँ तो माता जगन माता आप कैसे अपराधिनी ने जब मालिक ने भूखा देने के लिए मरते समय राम कहकर पुकारा और लक्ष्मण जी को समझते थे वो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते थे उस समय मैंने कटु बचन कह करके लक्ष्मण लक्ष्मण का जो अपराध किया वो अपराध तो मुझसे निश्चय ही हुआ है और सचमुच वो अपराध ऐसा प्रतिफलित हुआ कि जब उसके सामने आके साधु के देश में यदि के बीच में सलंगी जो छोटी और जने वाले जो साधु होते हैं और सुगंध रखते हैं उनके रूप में राणा आया और उनके रूप सौंदर्य की माधुर्य की प्रशंसा करने लगा और सीता जी ने उसे सुन लिया और सुन लिया और उसका सबका आदेश किया सीता जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी जैसे अं, महात्मा का अपमान करने के कारण मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि वो जो रावण की अं, के द्वारा की हुई प्रशंसा थी उस प्रशंसा को सुन भी मैं उसके ऊपर दुख नहीं हुई कि हमारे घर में हमारे पति नहीं है हमारे जरूरत नहीं है और तुम साधु के बीच में आए हो हमारी क्या प्रशंसा कर रहे हो मैं रावण पर नाराज नहीं हुई उसका आदित्य करने लगी तो लक्ष्मण के प्रति कटुगटक और रावण के प्रति राशित्य का भाव असल में सत्पुरुष का जो तिरस्कार करता है जानकी जी कहते हैं उसकी गति ऐसी होती है सत्पुरुष का तो कर दिया तिरस्कार और दुष्ट का दिया आदर है उसका फल मैं हो गए तो नारायण अपराध के जीवन में सबसे होते हैं न करते न करते न परात्मति ऐसा सृष्टि में कोई होता ही नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई अपराध हो तो जब दूसरा अपराध करता है तब तो हम दंड देने के लिए दंडा लेकर दंड देने के लिए दंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और जब हम अपराध करते हैं तो दूसरे के अपराध का हम दंड देना चाहते हैं और अपने अपराध को क्षमा करते हैं और होना तो ये चाहिए कि हमसे जो अपराध होता है उसका हम अपने को दंड दें और दूसरा जो कोई अपराध करता है उसको हम क्षमा करें दूसरों के लिए क्षमा चाहिए ये क्षमा हाँ, ये क्षमा पृथ्वी का गुण है और धरती का गुण है वैकुंठ वैकुंठ के लिए क्षमा का निर्देश नहीं है न प्रिय तत्व के लिए है न ज्ञान के लिए है ये क्षमा का जो उपदेश है क्षमा का जो आदर्श है ये धरती पर रहने वाले हम मनुष्यों के लिए ये धरती पर रहने वालों के लिए ये उपदेश है धरती की पुत्री है श्री सीताजी महाराज और क्षमा की मूर्ति है धरती है और वो अपने जीवन में क्षमा ही क्षमा प्रकट करते हैं तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र नारायण का कृतज्ञ भी स्थान पालन करते हैं वैसे श्री जानकी जी भी अत्यंत कष्ट सहन करके भी धर्म का पालन करते हैं बल्कि श्री रामचंद्र जी के जीवन में जितना कष्ट सहन है उसकी अपेक्षा सत गुणा सहस्त्र गुणा उसकी अपेक्षा कष्ट सहन के भी करके भी श्री सीता जी अपने धर्म का पालन करते हैं तो ये जो वाल्मीकि रामायण में धर्म कथा है महाराज अद्भुत है नारायण और ये धर्म कथा जीवन में धारण करने के लिए जीवन में धारण करने के लिए होती है तो जन्म से लेकर के रामचंद्र के जो गुण है नारायण गुणों से ही ये प्रसंग प्रारंभ होता है वाल्मीकि जी पूछते हैं इस समय इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ गुणवान कौन है हाँ, ये एक प्रश्न है और उसके उत्तर में श्री भारत जी महाराज कहते हैं ये है कि गुण संपन्न तो केवल इक्ष्वाक हो रामो नाम जनता ये जनता को मालूम है जन जन को ये बात बात मालूम है इक्ष्वाक वंशी जो रामचंद्र हैं इक्ष्वाक वंशी कहने का अभिप्राय हो गया इसी धरती पर है इसी इसी समय है इक्ष्वाकु में है आज भी आज भी तक राम है इसी धरती पर इसी धरती पर राम है और उनके जो गुण की तन्मात्राएं हैं वो त्रेता युग में नहीं आज भी फैली हुई हैं और उनके गुणों की तन्मात्रा को स्वीकार करते ही मनुष्यों के हृदय में धर्म की भावना उदय होती है तो प्राय रामचंद्र के संपूर्ण जीवन की एक सूची समाज के रूप में पहले नारद जी ने वाल्मीकि जी को बता दी है सारे जीवन का एक सूची पत्र तो है वो तो ग्रंथ की भी सूची है ग्रंथ का भी सूची पहले ग्रंथ की सूची लिख दी इस ग्रंथ में इन इन विषयों का वर्णन है वाल्मीकि जी महाराज जो है और उनके जीवन चरित्र के संबंध में तो पुराणों में तरह तरह की कथा आई है अध्यात्म रामायण में भी है बौद्ध पुराण में भी है विष्णु पुराण में भी है ये जो वाल्मीकि ऋषि थे ये ये भी एक अद्भुत बात है इनका जो पहले जीवन का पूर्व जीवन का जो चरित्र है वो उत्तम कोशिश कोटि प्राप्त हम पूरा चिराते थे अध्यास रामायण में वाल्मीकि जी बोलते हैं कि हम पूरा चिराते थे चिराता ही सहब रहा मैं पहले जंगल में रहता था और जंगली लोगों के साथ ही मुझे पढ़ने का सीखने का संयोग मिला था तो मैंने तो वहीं से सब कुछ जो बुरे बुरे भाव हैं बड़े बड़े चरित्र हैं उनके वो क्रोध किया दूसरा सदा हमारी प्रीति जो है वो रुलाना वाला रुलाने वाला रोने वाला जो चरित्र है ना हाँ, जो बात बात में दुखी हो जाए उसका नाम सूत्र है और और जो दूसरे को बुलाए उसका नाम भी है रो है रोलार ये जिसका दुनिया में काम हो ये काम हम करते थे पहले तो एक दिन सप्तर्षी आए एक पुराण में सप्तर्षी का नाम लिखा है और एक पुराण में अकेले नारद जी का नाम लिखा है तो फिर उधर से निकले मेरे मन में आया जिनके पास जो कमंडलू है और दंड है और इनके जो वस्त्र हैं उनको हम छीने और छीन के अपने कुटुंब का भरण पोषण करेंगे अब जब सुनने के लिए आए तो एक पुराण में सात ऋषियों के अलग अलग वचन हैं सातों ने उससे पूछा कि तुम ये जो पाप करोगे इस पाप के भागी तुम्हारे घर वाले होंगे ही नहीं पाप का फल तो दुख होता है जो पाप करता है तो दुख मिलेगा तुम हमको दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा तो जिनके लिए तुम ये पाप कर रहे हो वो इस तुम्हारे पाप में हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे वाल्मीकि जी ने पूछा कहा कि हमको किसी तो बात मालूम नहीं है मालूम नहीं है तो तुम जाकर पूछ जाओ वो बोले कि हम तो उधर जाए पूछने और तुम लोग भाग जाओ तो क्या होगा तो बातों बोले थोड़ा नाराजी नहीं ने ये कहा तो तुम्हें जैसे संतोष हो ऐसा कर लो तब जाके पूछ जाओ फिर हमको दोस्तों और महाराज को बांध दिया पेड़ में सब अलग अलग पेड़ में बांध दिया या नारद जी को पेड़ में बांध दिया उनको तो मजा आया हाँ, बस के भी भगवान के नाम में और भजन हो गया अब हो गया और घर जाकर के उसने अपने ही माता से पिता से पत्नी से नारायण भाई से बंधु से सब से पूछा की भाई मैं मार काट करके लोगों को दुख पहुँचा करके बेईमानी करके चोरी करके छल करके कपट करके ये संपत्ति ले आता हूँ और उसको तुम लोग खाते हो तो इस बात का जो फल रहेगा उसमें तुम हमारे रिश्तेदार बनोगे की नहीं तो मैंने सबने मना कर दिया बोले तुम्हारा कर्तव्य तुम घर के मालिक हो तुम्हारा तो कर्तव्य है कि हमारा कारण पोषण करो अब कर्तव्य का पालन करते हो हमारे लिए धन संपदा कमा करके ले आते हो इसमें हम नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ बुलाते हो उसको हम क्या जाए इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो सुख भोगने में हम तुम्हारे हिस्सेदार नहीं है ये उनको सुन के उनको बड़ी गुलामी हुई और गुलामी हुई महाराज को पीछे के पास लौट के आए और लौट के आए घर वाले को तो पीछे अंतराल नहीं तो उन्होंने बताया कि किस काम में आखिर लगे हो दूसरे को तकलीफ पहुँचा करके नारायण ये धन संपदा बटोरना और उसके पाप में किसी का रिश्तेदार न होना तुम अपने लिए अकेले ये सुख की सृष्टि बना रहे हो इसको महाराज उन लोगों ने वाल्मीकि उनके शरणागत हुए शरणागत हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रभु राम राम का जप करो अब राम राम का जप करो जब करो तो बताया तो उनके मुंह से राम राम न निकले राम राम न निकले ज्ञान रामायण में ये बात स्पष्ट है कृपया गमिष्यता मरे की जप सर्वदा उन्होंने कहा कि तुम राम राम नहीं मरा मरा जपो मरा मरा तो मरा मरा क्यों जपो हाँ, तो बड़ा बड़ा कई बार जो बोलते हैं लगातार वो राम राम हाँ, हो जाता है उनका नाम जबत जल जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना स्वामी जी ने ऐसा लिखा तो वो राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे उनका हो गया पहला हाँ, मात्र चला गया और दूसरे नाम से प्रारंभ हो गया और राम राम जब करके ये वाल्मीकि जी ऐसी समस्या में मग्न हो गए कि प्रारंभ में ही तपस्वी शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं किया गया है तपस्वाध्यायम तपस्वी भाग्यराम्बरम नारदम परिपक्त वही वाल्मीकि जब तपस्या से सिद्ध हो गए तब उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है और नारद जी ने उनको श्री रामचंद्र के गुणों की बताई ये ये गुण श्री रामचंद्र में प्रजा के प्रति ऐसे पुत्र के प्रति ऐसे भाई के प्रति ऐसे ये माता के प्रति ऐसे पत्नी के प्रति ऐसे पिता के प्रति ऐसे शत्रु के प्रति भी ऐसे शरणागत वत्सल है एक बात उनकी शरण में आ जाए कभी कभी तो ऐसे लोगों से मित्रता कर लेते हैं कि उनके साथ उनकी रक्षा के लिए यदि अन्याय भी करना पड़े ये ऐसा ऐसी मित्रता का निर्माण करते हैं सुग्रीव के साथ विभीषण के साथ कि ऐसा कहीं कोई दूसरा सृष्टि में जाता उनकी प्रतिज्ञा है सदैव प्रसन्ना है सदा की जाते अवय सर्वभूत सदा भूतक प्रसन्न होना एक बार तुम मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ तो संपूर्ण प्राणियों से उसको निर्भय कर देता हूँ नारायण संपूर्ण प्राणियों से तो उसको निर्भय कर ही देता हूँ उससे संपूर्ण प्राणियों को नारायण संपूर्ण प्राणी भी उसको भय नहीं दे सकते हैं न वो संपूर्ण प्राणियों से डरेगा न तो संपूर्ण प्राणी उसको डराएंगे और वो चाहे कोई भी हो अब अयम सर्वे भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करने में अनुकरण करने में राम नाम का नारायण जप करके अपने चरित्र को पवित्र बनाने में कोई जात पात का भेद नहीं है कोई संप्रदाय का भेद नहीं है कोई राष्ट्र का भेद नहीं है चाहे जो कोई भी हो जो कोई भी हो रामचरित्र रामचरित्र का आदर करके और उसको अपने जीवन में ना करके अपने जीवन को परम पवित्र परम समय मनुष्य जीवन की जहाँ पूर्णता होती है न मानता श्रेष्ठ कर्म निश्चित मानो कुछ श्रेष्ठ कुछ नहीं है और वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ नया मनुष्य हो जाता है फिर तो उसको केवल बाहर ही नहीं भीतर भी राम का दर्शन होने लगता है और बाहर भीतर का भेद जितने नहीं है उस पुण्य तत्व को भी वो राम के रूप में देखने लगता है अब धीरे धीरे आपको की रामायण के प्रसंग में ये प्रकार आपको शरद पूर्णिमा तक सुनाते रहेंगे ओम शांति